मगर इसमें अगर आप अंतर अस्थायी में ही रहेंगे अंतर अस्थायी को जांच लेंगे आप खूब दिमाग में तो उसमें फिर ही आप जैसे मिला चाहे उससे बाहर जाएंगे तो गलत हो जाएगा तो बात बराबर है लेकिन सब ताने वाने कहेंगे बोल ताने कहेंगे तो मैं आप समझ सकता हूँ जो आप कहते हैं वो बोल तानों में तो आ जाएगा तो अरविंद भाई ठीक है मगर एक मैंने आपको बात बता दी कि अंतर अस्थायी के देख घूमा जाएगा मगर अब ये तो अरविंद भाई जो आप बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से समझ रहा था तो ये तो है कि पंद्रह बीस दिन एक महीने बराबर ये चीज़ चले बैठे हैं फिर पता चले हाँ, फौरन के फौरन तो नहीं बन सकता इस तरीके से होगा ये इस तरीके से है उसको इस तरीके से हाँ, हाँ, नहीं तो यानी पाँच मिनट के लिए इतनी तो चीज़ है कि के अंदर ही रहिए आप जहाँ तक समझ क्योंकि वो उसको बजाने के लिए नहीं राग को समझने के लिए हाँ बिल्कुल आपके दिमाग में जो चीज़ें आएंगी तो भाई कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ रखना चाहिए बात और अगर जो किसी की बात है वो हाँ लेना चाहिए बहुत ही अच्छी बात है मगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बरतने की भी हैं भी नहीं मगर ख़ास ख़ास मौके के ऊपर निकालने की हैं हाँ, क्यों सर तो उसके लिए उसको मान के रखने की ज़रूरत ज़रूरी है क्यों भाई सर समझ ये चीज़ नहीं कि ये चीज़ याद कर ली बच कर ली किसी मौके पर निकल भी सकती है वो खासा हाँ वो नटनारायण कैसे राय था ए, ए, Ee, Kayamadı मन Hallelujah. हरी अरज मदर वस्त जाए हरी अरिये माहिरी मेरा भोला मदार मन का मलिदा पीर तो पे चढ़ाऊंगे मदरवा मोरे घी के जलाऊंगी चिराग seventy six by Ustad Latafat Khan Did मोहन संग भर मारत पिचकारी रे यह हुई अंतरा अबीर गुलाल मलो मोरे मुख पर और हंसे दे दे तारी रे अबीर गुलाल मलो मोरे मुख पर और हंसे दे दे तारी रे खेलो री होली मोहन संग यानी दिस वाज रिकॉर्डेड बाय Ustad Latafat Khan Sahab on Sahab on 10th of June 1976. Wow. यानी आपने देखा कोई मस्तरी करता है तो फिर हंसता है ताली बजा अबीर गुलाल मरो मनो मोर मुख पर और हंसे दे दे तारी अच्छा, दे अच्छा, हाँ, हाँ। होली मोहन संग भर मारे पिचकारी रे पिचकारी रे तारी रे हाँ। में छुपा लियो बिगड़न। ही मैं अंत दिखा रात भर हो जाएगी अगर किसी रोज छूटा गया तो रात भर हो जाएगी इसी में शोक भी नहीं करना चाहिए बल्कि एक इसको कैंसिल ही कर दिया ऐसा समझिए हम्म। ऐसे करके रह गया बुजुर्गों की चीज़ें ही ऐसी हैं वाकई कि यही चीज़ें हैं वो जिसमें कि आदमी रोने लगता था और जानवर आ जाते थे और बारिश हो जाती थी अभी भी यही लोग यही राग है इसका गाने वाला हमारे यहाँ हर जगह होता है तो जैसे प्रार्थना नहीं करते हैं ना हाँ। इस तरीके से ये चीज़ें गाई जाती हैं प्रार्थना और और और, और मरद मर्द सब गाते हैं औरतें भी गाती हैं मर्द सब Oh, kakak ada segini. हिंदी में सुनाइए ये प्यारी पगुन दूसरी अभी हाँ थोड़ी ना जोर अभी सुना रहे था प्यारे पगल आन दर प्यारे पगल सुनत गुलाल छेर करत बरनाए देत गगरिया सुनत गुलाल सुनत गुलाल छेर करत बरनाए que que kamu kucumule sa que. Boja, yeah, Boja. Go ahead. पिया पिया घर बरदन कोयला पिकू के सुनत हो गए उठ कोयला पिकू के सुनत हो गए उठ गलन बरद मनु अधन पिया बेन पिया पिया पिया घर बरद बरदन अरे आप करिए नोटेशन बरसत में जिगर मा बोल चना ना ना ना ना ना ना ना गा गा गा ना ना आये आयरु तरका सोच समज मन आयरु सोच समझ मन पवन चलत पुरवैया सनन सनन सनन न न काले काले केस चले अपने घर को हाँ। आए सेठ बगा अच्छा काले से चले अपने घर को आए से बगा हम्म, कौन सा राग है मगर इसको कैसे इसका अस्थाई यंत्र के बाद जो इसका औचार व्यवहार दुरत की चीज़ है या विलंबत की चीज़ है विलंबत और चलाओ मना çağ çalır Nak juga. Nak. Bagus, bagus, bagus. Uh,